भाई जैसे मुझे भोर पड़ती है ना ओस निहार कोहरा कोहरे के अंधकार की जो घनता होती है ये वृक्ष बेल पशु पक्षी मनुष्य कीट पतंग इन सबको ढक देती है इन सबको आवृत कर देती है पर जो रात्रि का जो भयानक अंधकार होता है तमसा छिन्न रात्रि का अमावस की रात्रि घोर अंधकारमयी हो इसको ये कोहरे की छाया नहीं देख सकती इस अंधेरे का संयोग होते ही इस अंधेरे में वो स्वयं ढक जाती है विलीन हो जाती है और जैसे जुगनू पटबीजना खद्योत खद्योत का प्रकाश घोर रात्रि के समय कहीं कहीं किसी लता पर किसी बेल पर किसी पत्ते पर चमक जाता है वो क्षण भर के लिए चमकती दिखती है पर यदि मध्यान्ह का सूर्य हो दोपहर का सूर्य जिस समय तप रहा हो उस समय जुगनू के प्रकाश की कोई सत्ता कहीं रहती है क्या कि जुगनू का प्रकाश कहीं दिखता है क्या तो ये महान के प्रति क्षुद्र का जो माया विस्तार है ये अतुल वैभव के साथ जो क्षुद्र वैभव का प्रकाश है ये निरर्थक हो जाते हैं वो जिसके लिए मोह पैदा करता है उस मोह से स्वयं ही निहित हो जाता है जिसके लिए अंधकार का सिद्ध करता है वो अंधकार में खुद डूब जाता है और जिसके तेज का हरण करने के लिए तेज अपना प्रकट करता है वो तेज उसी में समा जाता है तो ब्रह्मा जी के लिए बस यही हुआ ये महामाहेश्वर महामहिम भगवान को अपनी माया से मोहित करने चले थे और स्वयं मोहित हो गए हतप्रभ हो गए ये चित्त ब्रह्म हो गया चित्त ब्रह्म से चुप भय महामोह भैया में ही बाढ़ अखिल विश्व मोहन भगवाना तिन्हें मोहिले को मन आना माया करी जिन खद्योत सहस्रम जैसे निस्मह तम यति भारी पुण्य निहार अतिशय अधिकारी दुमतम मिलिए के भय गयऊ नहीं निहार बल भिन्न जो भयऊ जिन खज्यूत सहस्रमी दिवसन भिन्न प्रकाश तिम हरि माया की विषय माया सकल निवास कैसे ये महत्व पुरुष कहा कोई माया करे कर जो हुई वह माया चैला लगे न कबू उलटी फले करे जो सबहू ब्रह्मा की माया ब्रह्मा परिचरितार्थ हो गई ब्रह्मा मोहित हो गए अपनी माया से अब वो इधर देखें उधर देखें यू देखें यू देखें कुछ भी निर्णय नहीं हो पावे अभी तो उन्हें बहुत देखना है इतने में उन्होंने देखा बड़ा सुंदर भाग ब्रह्मा जी के आठ मित्र हैं चार मुंह है ना तो आठ आंखें खुली आंखें वो देख रहे थे देखते देखते ही एक बड़ा दिव्य तेज प्रकट हो गया आंखों के सामने एक दिव्या दिव्य तेज का उन्मेष हो गया अब ब्रह्मा जी ने देखा क्या है तेज तो तेज दिखाई दिया फिर तेज नहीं दिखाई दिया ये जितने भी बछड़े जितने भी ये गोप बालक ये सब के सब नवनील नील वर्ण सब के सब घनश्याम नील वर्ण हो गए सब सब बड़ा मनोहर पीठ पट पहने हुए सब सब पीताम्बर से परिशोभित शंख चक्र गदा पद्म लिए चतुर्भुज मणि मुकुटधारी मणियों के कुंडल झलमला रहे मकराकृत मोतियों के रत्नों के हार गले में सुशोभित बनमाला भी पहने हुए चतुर्भुज रूप सबके सब दिखाई दिए और ये दिखा उनको कि प्रत्येक मूर्ति में प्रत्येक श्री विग्रह में दक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है वो पीली स्वर्णमयी रेखा है दाहिनी ओर सबकी भुजाओं में बाजूबंद है हाथों में रत्नों के वलय हैं कड़े हैं चरणों में सबके दिव्य रत्नों के नूपुर हैं सबके कटदेश में करधनी है और सबकी अंगुलियों में दिव्य रत्नों की अंगूठियां चमक रही हैं और भक्तों के द्वारा समर्पित की हुई ये सुकोमल नव तुलसी दल की माला ये नख से सिखा ये सिर पर्यंत सारे अंगों को सुशोभित कर रही है और सबके वोष्टों पर घरों पर वो चंद्रमा की ज्योत्सना के समान मंद मंद मुस्कुराहट प्रकट हो रही नाच रही है और सबके बड़े सुंदर अरुणिम नेत्रों से मन मधु झर रहा है अमृत की वर्षा हो रही है सबके नेत्रों से और ये अरुण नयन ये मनोरज के प्रतीक हैं कि भक्तों के अंतस्तल में क्षण क्षण में नया नया सेवा का मनोरथ यूं सेवा करें यूं सेवा करें सेवा का मनोरथ ये सृजन कर रहे हैं और भगवान का जो हास्य है उज्ज्वल हास्य ये मानो सत्व का प्रतीक है तो अधरों पर नाश नाश करके मानो उन भक्तों के मनोरथ को पूर्ण कर रहा है फिर ब्रह्मा ने देखा रहे यहां पर तो ब्रह्मा बहुत से दिखाई देने लगे जितनी सृष्टि उतने ब्रह्मा है ना तो असंख्य ब्रह्मा दीख बड़े कोई चार मुख और कोई दस मुख और कोई षोडश मुख और कोई शतमुख और कोई सहस्त्र मुख अग्नि ब्रह्मा दीखे और फिर ब्रह्मा के साथ साथ उन्होंने देखा कि जितने भी चराचर जीव हैं स्थावर जंगम तिनके से लेकर के बड़े बड़े देवता तक सबके सब जीव अपने अपने अधिष्ठात्री देवता के रूप में मूर्तिमान खड़े वहां पर सबको तत्वों को मूर्तिमान देखा और सबको सब नाच नाच कर गा गा कर रिझा रिझा कर चतुर्मुख चतुर्भुज भगवान की सब सेवा कर रहे हैं अनुमाजी सिद्धियां माया देवी विद्या देवी इच्छा देवी बल देवी क्रिया देवी जितनी भी शक्तियां हैं और महातत्व हैं चौबीसों इन तत्वों को अधिष्ठात्र देवता इन सबको सेवा में खड़े देखा प्रकृति के शोभ शोभ में उत्पन्न होने वाले काल प्रकृति के परिणाम के हेतु स्वभाव संस्कार काम कर्म गुण इन सबके निष्ठात्री देवता ये सब को सब प्रत्येक भगवान के स्वरूप की पूजा कर रहे हैं भगवान के प्रभाव के सामने उन देवताओं की सत्ता महत्ता मांग तुच्छ हो गई है ये अगणित भगवत स्वरूप दिख रहे हैं सब के सब प्रकारावादी सत्य है बना हुआ नहीं सब के सब ज्ञान स्वरूप है सब प्रकाश है अनंत देश कालादि परिच्छेद से रहित हैं एक रस हैं ये अचंत अनंत महात्मा की उपलब्धि ये जो आत्मज्ञानी है उनके लिए संभव नहीं हम्म। सत्य ज्ञान ज्ञानानंता मातृग्र समूर्त अस्पष्ट महात्मा अति हूं हूँ सदृशा उनके लिए भी ये असंभव तो इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी चकित हो बदन बड़ा सुंदर है ये ये कल्पी भागवत में आया है भगवान के इन रूपों को देखा एक साथ ही ब्रह्मा जी ने ये देख लिया कि ये जिनके प्रकाश से इस सब कुछ प्रकाशित है ये भाषा सर्वमिलम विभाग सचराचरम जिनके प्रकाश से कि सारा चराचर जगत प्रकाशित है उन श्री कृष्ण को देखा कि सत्य श्री कृष्ण स्वरूप हैं तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ तथो कुचको वृत्तिमित एकादश इंद्रिय तब धामना भूतजस्तूषण पूर्वे पुत्र पुत्रिका अब ये पांच ज्ञानेन्द्रियां पांच कर्मेन्द्रियां और एक मन ये ब्रह्मा जी के दिव्य है भला ब्रह्मा जी तो इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं के भी देवता हैं तो ये सब के सब इंद्रिया पहले तो क्षुब्ध हुई और उसके बाद ये स्तब्ध रह गई इंद्रियों की क्रिया मानो बंद हो गई मैंने भगवान के तेज से सारी इंद्रियां निष्प्रभ होकर निश्चेज निस्तेज होकर के मौन हो गई ब्रह्मा जी मौन हो गए और ऐसे स्तब्ध खड़े रह गए कि मानो कुछ बोल सकते ही नहीं अब इनके क्या हुआ उस समय कि तमाम देवता स्तुति कर रहे थे ना तो इनके कान दिव्या दिव्य स्तवन ध्वनि से भर गए इनके नेत्र उस चमत्कार में चिन्मय दृश्य से भर गए ये बड़ी अद्भुत ब्रह्मा जी ने अपनी आंखों से चिन्मय तत्वों को मूर्तिमान देखा उनकी शक्तियों को मूर्तिमान देखा माया को मूर्तिमान देखा कर्मों को गुणों को मूर्तिमान देखा और सबको सब चिन्मय तो नेत्र इन चिन्मय तत्वों के दर्शन से भर गए कान उनके दिव्या दिव्य स्तवनों से भर गए और ज्ञानेन्द्रिय कि भगवान प्रगट माया से तो हुए नहीं थे ना सत्य सत्य प्रगट हुए तो अनंत भगवान के रूपों से जो अनंत सुगंध निकल रही फैल रही दिव्य सुगंध उस दुगंध उस सुगंध से उस दिव्य सुवास से इनकी घ्राणेन्द्रियां भर गई और भगवान और सारी ज्ञानेन्द्रियां एक अभिनव अपूर्व परमानंद में डूब गई ऐसा आनंद कभी ब्रह्मा जी ने आज तक नहीं देखा किसी ने नहीं देखा ज्ञान इंद्रिया आनंद वो आनंद सागर में डूब गई बार आ गई आनंद की और कर्मेंद्रिया भी आनंद के तरीक से सारी की सारी स्तब्ध रह गई हिलना डुलना बंद हो गया स्थिर हो गई ब्रह्मा जी उस दर्शन से मानो अपने मन को भी खो बैठे उनका मन अपनी सत्ता को खो बैठा ब्रह्मा जी की सारी इंद्रियां और इस प्रकार से पहले तो हिली हिंडोलों की जैसे हिली झूली और फिर ऐसे शांत हो गई मानो अस्तित्व नहीं है देखते देखते ब्रह्मा जी अचेत से हो गए निष्प्रभ हो गए निष्पन्द हो गए हिलना डुलना बंद हो गया निर्वाक हो गए बोली बंद हो गई जैसे बच्चे ये खेल की पुतली बनाकर गुड़िया बनाते ना गुड़िया गुड़िया जैसे कोई गुड़िया सजा कर रख दी हो कि इसे नकली हंस पर इस प्रकार से गुड़िया से बने पत्थर काट की सी मूर्ति वो कीड़ा पुतली का इस प्रकार वो वहां बैठे रहे अब ये कौन को देखता है सारे देवता ब्रह्मा जी की सब के सब उपासना करने वाले और आज उन अनंत चतुर्भुजी मूर्तियों के सामने ब्रह्मा जी उपेक्षित हो गए उनके किसी ने ताक ही नहीं सब सेवा में संलग्न तो ये बैठे बिचारे निष्पन्द बैठे बैठे ही और जड़ता आ उसी हंस पर ढोलक पड़े दार पूथरी रच मुखचारी खरी करी विधि अनुभारी सुध गई विधि अचेतन भयो हंस कोंस पकड़ रह गयो पीछे माए फबी छवि ऐसी चतुर्मुखी को पुतरी जैसी इस प्रकार से दशा ब्रह्मा जी की हो गई अब वो लुढ़के पड़े हंस के ऊपर और हंस भी निश्चेष्ट है अब ब्रजराज नंदन के मन में आया बहुत हो गया अब <laughs> अब इनका गर्व वर्द कुछ रहा नहीं सारा माया का अभिमान चूर्ण विचूर्ण हो गया तो ब्रह्मा जी की बड़ी दयनीय दशा सारे वेद के वक्ता ब्रह्मा अचेत होकर के पड़े हैं हंस के ऊपर ब्रजमंडल में सब आज देखने वाले कोई दूसरे नहीं थे सब श्याम सुंदर ही बन गए थे पर कुछ देवता ऊपर देख रहे थे तो देवताओं के सामने हंसी के पात्र देवता हंसने लगे तो देवताओं ने कहा था पहले कुछ देवताओं ने कि ब्रह्मा जी तुम मत जाओ वहां पर ये बड़ा ये ये नाचने वाला और नचाने वाला है तुमको कोई नचा देगा तो हंसी होगी पर ब्रह्मा जी ने बात बात मानी नहीं तो, तो देवता ऊपर से हंसने लगे देखो ना कहा था ब्रह्मा की दशा देखो लुढ़का पड़ा हंस पर तो ये वेद के आदि प्रवर्तक समस्त विद्याओं के अधिपति पितामह ब्रह्मा सर्वथा सामर्थ्य शून्य हो गए अब जितना अंश उनको दिखाया भगवान ने उतना सा ही देख सके जितना आंखों के सामने उनके व्यक्त किया गया उतना सा भ्रमित हो गए तो भगवान के मन में अब दया आई कि भाई अब इनको जरा सा एक कराना चाहिए <clears throat> तो अपनी बुद्धि से कुछ कर सकते हो नहीं तो भगवान नंदनंदन जो है ये प्रकृति से अतीत है भला ये प्रकृति से अतीत है तो इनको कोई कैसे जाने ये जितना भी अभिमान है ना कि हम ज्ञान के द्वारा श्री कृष्ण के तत्व को जान लेंगे ये ज्ञानाभिमान तत्व तक जाने नहीं देता साधक को किसी उर्ली जगह ही इधर की जगह ही तत्व मना के बैठा देता आगे बैठे रहो यहीं पर आगे नहीं बढ़ सकते और जिसको वो दिखाना चाहे अपना स्वरूप वो अपने प्रकृति से परत्व का जो अंश है वो वहां पर प्रकट कर देते हैं तो जिसको देखने योग्य आंखें नहीं उसको आंखें देख दिखा देते हैं और जिसको तत्व की आंखें प्राप्त है वो दर्शन नहीं कर पाता ये भगवान की तो ये ये ज्ञान मान विमत ये ब्रह्मा जी कहेंगे आगे इसी स्तवन में कहेंगे ये जो ज्ञानाभिमान है ये तो महाराज गिराने वाला है इससे कुछ होता नहीं है तो ये वेद क्या कहते हैं श्रुतियां जो भगवान को बताती है वो एक सांकेतिक भाषा में दिखाने बोले साहब वो स्थूल भी नहीं है और सूक्ष्म भी नहीं अणु भी नहीं है छोटा भी नहीं बड़ा भी नहीं घन भी नहीं द्रव भी नहीं छाया भी नहीं तम भी नहीं वायु भी नहीं आकाश भी नहीं ये नहीं नहीं नहीं नहीं कह करके बोले फिर वो कौन है बोले जो रह गया सो वो है रह क्या गया बोले जो रह गया उसे कोई देख नहीं सकता जान सकता तो बोले जिसको उसको देख नहीं सकता जान सकता बोले वो तो अपने आप जानता है अपने आप को तो जाना करे अपने आप को अपने आप तो ये श्रुतियां जो हैं ये सच्चिदानंद स्वरूप का संकेत करती है दूर से बताती हैं कि ये देखो और दूर से ही उन सूक्ष्म दर्शियों की बुद्धि दूर से देख पाती दृश्य के त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्म सूक्ष्म दर्शी परंतु पाती नहीं आती नहीं लौट जाती वहां से अप्राप्त मनसा सह मनसा मन बुद्धि को ले करके वो रथ लौट जाता है वहां से ठीक तह तक पहुंच नहीं सकता अंतर वो अंतर प्रासाद में अंतपुर में महल के भीतर उस दिव्य निकुंज में नहीं पहुंच सकता तत्वज्ञों का मन कभी तो ब्रह्मा जी के पास वही वेद था वेद की निंदा नहीं वेद तो बताने वाला है दूर से